उसे कहता है सामान्य को सूत्र बना लो तुम जैसे हो उसे देखो और राज्य को कहता है कि राज्य भी मनुष्य के सामान्य को नियम बनाए असामान्य को आदर्श न बनाए अब हम क्या कर रहे हैं हम चाहते हैं कि हमारे मंत्री प्रधानमंत्री राष्ट्रपति झोपड़े में रहे तब तुम आदमी की सामान्य स्थिति को नहीं समझ रहे जिसको झोपड़े में रहना है वो पागल है जो प्रधानमंत्री बनने जाए जब झोपड़े में ही रहना है तो तुम्हारे पैर दबा दबा के वोट पाने की जरूरत क्या है झोपड़े में रहने के लिए तुमसे कोई आज्ञा नहीं लेनी सामान्य आदमी की सामान्य मनोदशा है वो महल में रहने के लिए तो जा रहा है तुम्हारे पैर दबा रहा है तुम्हारे सामने हाथ जोड़े खड़ा है तुम जिनसे कुछ लेना देना नहीं तुम्हारे सामने झुक रहा है जी हजूरी कर रहा है तुम अकड़े खड़े हो और वो तुम्हें फुसला रहा है मुल्ला नसुद्दीन चुनाव में खड़ा हुआ तो गांव भर में उसने चक्कर लगाया जांच पड़ताल के लिए कौन अपने पक्ष में है कौन विपक्ष में वोटर लिस्ट लेके निशान लगाता गया जिसने कहा पक्ष में उस पर लगा दिया पक्ष जिसने कहा विपक्ष में उस पर लगा दिया विपक्ष एक महिला के द्वार पर गया वो अपने बगीचे में काम कर रही उसने वहीं से कहा कि बाहर रहो भीतर मत आओ तो भी मुस्कुराया फाटक खोल के कहा कि और किसी कारण से नहीं आया हूं सिर्फ ये पूछने आया हूं कि चुनाव में खड़ा हो रहा हूं मेयर के तो आपका मत तो मुझे मिलेगा वो स्त्री आग बबूला हो गई उसने कहा लावारिस आवारा तुम्हें मत और मेयर बनना तुम सड़क पर भीख मांगने के योग्य भी नहीं तुम्हें तो असल में गांव के बाहर निकाला जाना चाहिए हटो बाहर वो झाड़ू से जिससे साफ कर रही थी झाड़ू उसने उठा ली दिन पीछे हटता जा रहा मुस्कुराता जा रहा और कह रहा है कि नहीं कोई कोई बात नहीं सोच लेना अभी कोई जल्दी भी नहीं है उस स्त्री का सोचने का सवाल ही नहीं तुम निकलते हो कि मैं झाड़ू चलाऊ तो वो बाहर आ गया बाहर से उसने फिर नमस्कार किया अपनी डायरी देखी और उसने डायरी पर लिखा डाउटफुल संदिग्ध विपक्ष में इसको भी विपक्ष में राजनीतिक नहीं मानता तुम्हारे हाथ पर जोड़ रहा है फिर मैंने सुना है कि मुल्ला नसरुद्दीन बूढ़ा हो गया उसका बेटा एक दफा चुनाव में खड़ा हुआ तो यही गुजरी बेटे पर उसने बाप से आके कहा कि तो बड़ा कठिन काम है लोग बड़ा अपमान करते हैं नसरुद्दीन ने कहा अपमान कितने चुनाव में लड़ा ऐसी भी नौबत आ गई कि पीटा गया फेंका गया घरों से धक्के देकर निकाला गया लोगों ने जूते मारे केले के छिलके फेंके सड़े टमाटर मारे लेकिन अपमान अपमान कभी किसी ने नहीं किया सब तरह झुकता है और तुम चाहते हो झोपड़े में रहने के लिए तो झोपड़े में रहने के लिए यही कौन सी तकलीफ थी और जब वो जाकर महल में रहता तुम कहते हो भ्रष्टाचारी तुम अजीब हो सीधी सीधी बात है आदमी का सामान्य मन है तुम जैसा ही आदमी है उसकी आकांक्षा से बेचारा दिल्ली की यात्रा किया है जूते खाता है सड़े टमाटर खाता है छिलके फेंके जाते हैं गाली गलौज झेलता है जगह जगह काले झंडे और लोग मुर्दाबाद कर रहे हैं वो सब झेल के जाता है झोपड़े में रहने के लिए तो जाएगा काहे के लिए इतनी सीधी सी बात है वो जाता इसलिए है कि महल में रह सके थोड़ी देर ये आदमी का सामान्य मन है फिर जब वो महल में रहता तो भ्रष्टाचारी तो वो साइकिल पे चलना चाहिए तो तुम्हें ठीक लगता तो साइकिल पे चलना ही था तो यहां कौन सी दिक्कत थी वहां अगर वो बड़ी कार में चलता है तो मुसीबत वो जाता इसलिए है जीवन को सामान्य की तरह सोचो तब तुम्हें तुम्हारे राजनेता इतने भ्रष्टाचारी न दिखेंगे जितने दिखाई पड़ते और तब तुम्हें मुल्क भी इतना भ्रष्टाचारी नहीं मालूम पड़ेगा जितना मालूम पड़ता है इतना है भी नहीं क्योंकि इतना भ्रष्टाचारी हो तो कोई समाज टिक ही नहीं सकता वो नष्ट ही हो जाए संभल ही नहीं सकता लेकिन भ्रष्टाचार तुम बड़ा करके देखते हो क्योंकि तुम्हारे आदर्श बड़े असामान्य हैं झूठे तुम्हारे आदर्श हैं उनके आधार पर तुम नियम बनाते हो और वही आदर्श तुम्हारा नेता भी मानता है उसी के आधार से वो तुमको कहता है कि जनता भ्रष्ट है और जनता कहती है नेता भ्रष्ट है सामान्य को देखो मनुष्य की सामान्य आकांक्षा पर दया करो सामान्य को समझने की कोशिश करो उससे ही असामान्य को पैदा करना है असामान्य को ऊपर से नहीं थोपना है कहता है लाओस से राज्य का शासन सामान्य के द्वारा करो rule a kingdom by the normal तब जीवन व्यवस्थित हो पाता है क्या है नॉर्मल आदमी को समझो आदर्शों को मत वहीं से सूत्र खोजो सामान्य आदमी क्या चाहता है चाहता है छप्पर हो रोटी हो कपड़ा हो प्रेम हो जीवन में सुरक्षा हो ये सामान्य आदमी की आकांक्षा है ना तो सामान्य आदमी चाहता है कि कोई परमात्मा मिल जाए आज न कोई मोक्ष न कोई ब्रह्मचर्य तुम जो सामान्य आदमी चाहता है उसको देखकर व्यवस्था दो उसी व्यवस्था में जब वो शांत होने लगेगा तभी ये उस शांति की समृद्धि से ये नई अभिप्साएं पैदा होंगी छोटे छोटे बच्चों को हम ब्रह्मचरी का पाठ सिखा रहे हैं छोटे बच्चों को पहले काम वासना का पाठ सिखाओ ताकि वो काम वासना में गलत ना चले जाएं। अभी ब्रह्मचरी का कोई सवाल ही नहीं है लेकिन स्कूलों में लिखा है कि ब्रह्मचर्य परम धर्म छोटे छोटे प्राइमरी स्कूलों में मैंने तख्तियां लगी देखी कि ब्रह्मचर्य ही जीवन है कि प्राइमरी के बच्चे को ब्रह्मचर्य जीवन इससे क्या मतलब है यहां कोई बूढ़े पढ़ने आते अभी इस बच्चे को पता ही नहीं कि ब्रह्मचर्य क्या है अभी तुम इसे क्षमा करो अभी तुम इसे समझाओ कि जीवन में काम वासना आएगी उसे कैसे सम्यक रूपेण जिया जाए कैसे तू काम वासना में ठीक ठीक कुशलता से प्रवेश करे ताकि तू भटके ना अगर कोई व्यक्ति काम वासना में ठीक से प्रवेश कर गया तो दूसरा कदम ब्रह्मचरी का स्वाभाविक है बिना काम वासना में गए हुए बच्चे को अगर तुमने ब्रह्मचरी का पाठ पढ़ा दिया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी मेरे पास लोग आते युवक वो कहते हैं कि विवाह करें या नहीं क्योंकि है तो ब्रह्मचरी ऊंची बात युवकों के मन में भी विवाह की निंदा हो जाती है तो ब्रह्मचर्य ऊंची बात मैं उनसे पूछा ब्रह्मचर्य की तुम बात ही मत करो तुम अपने हृदय की कहो कहते हृदय तो वासना से भरा है लेकिन आप कोई तरकीब बताएं लड़ने की ताकि वासना को काट के अलग कर दे वासना को कभी किसी ने काट के अलग किया है और अगर वासना को ही काट दिया तो फिर ब्रह्मचरी कैसे लाओगे जो पैर वैश्या घर की तरफ जाते हैं उनको तुमने काट दिया तो वे ही पैर तो मंदिर की तरफ भी ले जाते थे पैर तो वही है चाहे वैश्या घर जाओ चाहे मंदिर जाओ दिशा बदलनी है पैर थोड़ी काट देने हैं ऊर्जा तो वही है शक्ति तो वही है चाहे व्यर्थता में खो चाहे सार्थकता में उठाओ चाहे अधोगामी बनाओ चले जाओ नरक में और चाहे ऊर्ध्वगमन करो और पहुंच जाओ परम उत्कृष्ट जीवन की अवस्था ब्रह्मचरी को काटना थोड़ी है जानना है पहचानना है ठीक से जमाना है सीढ़ियां बनानी है पत्थरों की होशियार कारीगर तिस्कृत पत्थर को भी उपयोग में ले आता है ना समझ उस बहुमूल पत्थर को भी फेंक देता है जिसमें कोई महान प्रतिमा छिपी थी जरा छेनी लेके साफ करने की बात थी और प्रतिमा उघड़ा थी अगर तुम बड़े मूर्तिकारों से पूछो तो वो ये नहीं कहते कि हम मूर्ति बनाते वो कहते मूर्ति तो छिपी ही होती किसी किसी पत्थर में हमें दिखाई पड़ जाती कि इसमें छिपी बस फिर हम जो उसमें व्यर्थ है उसको छांट देते जो आवरण है उसको हटा देते मूर्ति तो थी ही सिर्फ आवरण को हटाने की कुशलता है कूड़े करकट को अलग कर देते हैं मूर्ति प्रकट हो जाती है मूर्ति बनाते थोड़ी कभी किसी ने कोई मूर्ति बनाई है इसलिए मूर्तिकार जाता है पहाड़ों में पत्थरों को देखता है किस पत्थर में छिपी जब तुम मेरे पास आते हो तो मैं भी तुम्हें ऐसे ही देखता हूं क्योंकि तुम अनगढ़ पत्थर हो देखते हूं मूर्ति छिपी है थोड़ा सा अनगढ़पन है थोड़ा यहां वहां छेनी के लगाने की जरूरत है जल्द ही रूप उघड़ाएगा मिटाना कुछ भी नहीं है संवारना है सजाना है ठीक दिशा देनी है और ठीक दिशा सामान्य से मिलती है तुम सामान्य होने की आकांक्षा करो असामान्य होने से तुम रुग्ण हो कहता है लाव से युद्ध हो तो ठीक चलो असामान्य अचरज भरी युक्तियों से लड़ो क्योंकि युद्ध तो गलत है ही तो उसमें अगर गलत चलता हो तो चले लेकिन कम से कम जीवन के शांत क्षणों में तो गलत को मत चलाओ युद्ध तो गलत है इसलिए गलत से ही चलता है रोमन सम्राट एक तरकीब करते थे उनका सिंहासन दीवाल के पीछे के यंत्र से जुड़ा हुआ था जब सम्राट उस पर बैठता था सिंहासन ऊपर उठ जाता था चमत्कृत हो जाते थे लोग कि सम्राट कोई साधारण पृथ्वी का आदमी नहीं गुरुत्वाकर्षण का भी कोई प्रभाव नहीं सम्राट पर बैठते ही सिंहासन ऊपर उठ जाता ये तो बहुत बाद में पता चला लोगों को जब सम्राट खो गए कि दीवाल के पीछे यंत्र लगा रखा था जिसको एक आदमी चलाता था मगर इसका बड़ा प्रभाव था रोमन सम्राट जब वर्ष के प्रथम दिन पर अपनी परेड का निरीक्षण करता था तो इस तरह का इंतजाम किया था कि दस हजार सैनिक लाखों सैनिकों जैसे मालूम पड़े क्योंकि सैनिक सामने से गुजरते और वही लौट के फिर पीछे से पंक्ति में जुड़ जाते तो जो दूसरे राजाओं के राजदूत थे या मित्र राजा थे वो खड़े होकर जब देखते परेड तो उनकी छाती बैठ जाती कि इस सम्राट से झगड़ना खतरे से खाली नहीं इतनी भयंकर फौज फांटा इतनी तोपें बस उनको देख के उनके प्राण ठंडे हो जाते थे था कुछ भी नहीं थोड़े से सैनिक थे थोड़ी सी तोपें थी लेकिन उस्तादी ये थी कि उनको फिर वापस एक गोल बर्तन में घूमता था पूरा का पूरा मामला और सैनिकों की शक्लें तो होती नहीं इसलिए तुम पहचान भी नहीं सकते कि सैनिक वर्दी होती सैनिक यानी वर्दी शक्ल तो होती नहीं पहचानना बिल्कुल मुश्किल है कि ये वही आदमी आ रहे हैं दूसरे राजा हतप्रभ हो जाते थे लाओस से कहता है युद्ध में तुम चालांकियों का उपयोग करो अचरज भरी बातों का असामान्य का समझ में आता है क्योंकि युद्ध तो बीमारी ही है वहां और बीमारियां भी चलेंगी लेकिन कम से कम जीवन के शांत क्षणों में सामान्य जीवन में तो अचरज को विशिष्ट को असामान्य को मत लाओ संसार को बिना कुछ किए जीतो करके जीता तो क्या जीता क्योंकि करके जो जीत मिलती है वो जीत होती ही नहीं तुम जबरदस्ती किसी को भी हरा नहीं सकते हरा सकते हो उसकी छाती पे बैठ सकते हो लेकिन बस ऊपर ही ऊपर रहोगे भीतर वो आदमी बिना हारा है उसका हृदय नहीं हारता तुम गर्दन काट सकते हो लेकिन वह आदमी बिना हारा मरेगा करके कभी किसी ने किसी को जीता है सिर्फ प्रेम जीतता है और प्रेम कोई कृत्य नहीं है भाव की दशा है प्रेम कुछ करना नहीं है प्रेम तो एक मनोदशा है स्टेट ऑफ बीइंग है एक होने का ढंग है लाड़ से कहता है संसार को बिना कुछ किए जीतो प्रेम से जीतो मैं कैसे जानता हूं कि ऐसा है इसके द्वारा और तब वो कहता है ये मेरे अनुभव जितने अधिक निषेध होते हैं लोग उतने ही अधिक गरीब होते हैं निषेध का बड़ा आकर्षण जिन मुल्कों में कानून बन जाता है कि शराब बंद प्रोहिबिशन लागू उन मुल्कों में लोग दुगनी शराब पीने लगते ये सारी दुनिया जानती फिर भी मूर्ता का कोई अंत नहीं फिर भी पागल लोग पीछे पड़े शराब बंद करो सारी दुनिया का अनुभव यह कि जिस मुल्क में शराब बंद होती उस मुल्क में लोग दुगनी तिगनी शराब पीने लगते चोरी से शराब बनने लगती चोरों के लिए रास्ता खुल जाता सब निषेध चोरी को बढ़ाते और सब निषेध लोगों को गरीब करते हैं क्योंकि जितना तुम कहते हो कि मत करो उतना लोगों के अहंकार को चोट लगते हो वो करने को तत्पर हो जाते वो ये भी भूल जाते हैं कि क्या जरूरी था क्या गैर जरूरी था ऐसे जैसे इस दरवाजे पर हम एक तख्ती लगा दें कि भीतर झांकना मना फिर तुम बिना झांके निकल सकोगे तख्ती पढ़ना ना आता हो तो बात और लेकिन तख्ती लगी है कि झांकना मना है तो तुम बिना झांके नहीं निकल सकते क्योंकि तख्ती खबर देती है कि कुछ झांकने योग्य भीतर होना ही चाहिए कोई सुंदरी बैठी हो कुछ ना कुछ मामला है नहीं तख्ती क्यों तुम झांकोगे अगर दो जन हुए तो वहीं अड़के खड़े हो जाओगे अगर सज्जन हुए तो जरा चोरी छिपे से झांकोगे चलोगे इधर को देखोगे उधर को अगर बहुत ही सज्जन हुए कमजोर बिल्कुल लचर तो रात को लौटोगे जब भाड़ न रहे कोई न रहे तब झांक के देखोगे अगर बिल्कुल ही कमजोर रहे बिल्कुल नपुंसक सपने में झांकोगे मगर झांकोगे बिल्कुल असंभव है तुमने देखा दीवानों पर जहां लगा रहता कि यहां पेशाब करना मना वहां पहुंचते से पेशाब लगाती पढ़ा नहीं बस एकदम अभी तक ख्याल भी नहीं था तो जिस दीवार पे लिखा हुआ तुम देख लो हजार निशान पेशाब के बने होंगे सामान्य आदमी है अगर दीवार बचानी हो तो भूल कर लिखना मत अगर बिल्कुल ही बचानी हो तो लिखना कि यहां करना सख्त अनिवार्य अगर यहां पेशाब न की तो पकड़े जाओगे मारे जाओगे फिर तुम देखना जिसको लगी भी है वो भी संभाल के निकल जाएगा कि क्या मामला है कोई परतंत्र तो? कोई हम किसी के गुलाम है कि तुम हमको आज्ञा दो कि कहा हम करें और कहा हम न करें निषेध लोगों को दीन और दरिद्र बना रहा है क्योंकि निषेध के कारण लोग व्यर्थ चीजों की तरफ आकर्षित होते हैं शराब बंद है तो लोग शराब की तरफ आकर्षित होते हैं खाना छोड़ देंगे लेकिन शराब पिएंगे क्योंकि जब बंद है तो जरूर कोई मामला होगा शराब में कुछ न कुछ होगा रहस्य मिलता होगा कोई ना कोई आनंद कोई ना कोई हर्षोन्माद आता होगा नहीं तो क्यों इतने लोग पीछे पड़े हैं कानून इतने पीछे क्यों पड़ा है सरकारें इतने पीछे क्यों पड़ी नेतागण इतने पीछे क्यों पड़े और लोग जानते हैं कि नेतागण खुद पी रहे हैं दूसरों को रोक रहे हैं जरूर कुछ रहस्य है जरूर कोई बात है और एक दफा आदमी पड़ जाए जाल में तो उस जाल के बाहर आना मुश्किल होता जाता है अगर दुनिया को कम शराबी बनाना हो शराब को खुला छोड़ दो तुम्हारे रोकने से कोई रुकता नहीं तुम्हारे रोकने से सिर्फ और गलत शराब पी जाती है कोई स्प्रिट पी लेता है कोई पेंट पी जाता है सैकड़ों लोग मर जाते हैं अगर शराब खुली हो तो कम से कम कोई स्प्रिट तो ना पिएगा पेट्रोल तो ना पिएगा अगर शराब खुली हो तो कम से कम ठीक शराब तो पिएगा बंद होते से अंधेरे में चला जाता है सब काम और अंधेरे के व्यवसायी वो तत्क्षण हाथ में ले लेते अगर तुम ठीक से समझो तो जो लोग शराब बेचते हैं उनके पक्ष में है कि कानून हो शराबबंदी का मोरारजी भाई सोचते हो कि वो शराबबंदी के पीछे पड़े हैं तो उन लोगों के साथ शराबबंदी वाले लोग खड़े हैं वो गलती में उनसे लाभ तो होने वाला है उन्हीं का जो शराब बेचते क्योंकि तो शराब बढ़ जाती है एकदम से जैसे निषेध हो जाता जिस फिल्म पर लिख दिया गया कि सिर्फ केवल वयस्कों के लिए ओनली फॉर अडल्ट उसको छोटे छोटे बच्चे भी देखने पहुंच जाते वो ज्यादा चलती उसमें वर्ष तो पहुंचते ही जो वैसे न गए होते कि कुछ मामला है उसमें छोटे छोटे बच्चे भी पहुंच जाते जितने होंगे निषेध उतना ही लोगों का आकर्षण बढ़ता है और गलत दिशाओं में यात्रा शुरू हो जाती गलत को इतना महत्वपूर्ण मत बनाओ निषेध महत्व दे देता है गलत की उपेक्षा करो इतना आकर्षक मत बनाओ गलत की बात ही मत उठाओ बच्चे से भूल के मत कहो कि झूठ बोलना मना झूठ मत बोलना क्योंकि इससे बच्चे को रस आता है और बच्चे को लगता है झूठ में जरूर कोई मजा है है तो मजा क्योंकि दूसरे को धोखा देने में अहंकार की एक तरफ थी और बच्चा ऐसे कमजोर है जब उसे पता चल जाता है कि झूठ बोल के भी हम हरा सकते हैं लोगों को तो वो झूठ बोलने लगता है फिर वो कुशल होने लगता है धीरे धीरे फिर झूठ एक कला बन जाती है वो इस तरकीब से बोलता है कि तुम पहचाने ना पाओ छोटे छोटे बच्चे बड़े कुशल कारीगर हो जाते उन्होंने अब भी कोई शैतानी की हो तुम पहुंच जाओ देखो बिल्कुल ऐसे शांत बैठे तुम उनसे कह दोगे क्या जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं किसने किया वो ये वो एक खेल खेल रहे हैं वो ये दिखा रहे हैं कि तुम बड़े समझदार गए ऊंचाई तुम्हारी छह फीट होगी होगी लेकिन हम भी तुम्हें मात दे सकते बच्चे से भूल के मत कहना कि झूठ बोलना मना है क्योंकि जो मना है वो किया जाएगा और बच्चे ही हैं सब तरफ उनकी उम्र ज्यादा हो जाए इससे क्या फर्क पड़ता है कोई पांच साल का बच्चा है कोई पचास साल का बच्चा है बस बच्चे ही हैं सब तरफ और इसलिए लाओ से कहता है कैसे मैंने जाना ये मैंने जाना ये देख के कि जितने अधिक निषेध उतने लोग दरिद्र जितने तेज शस्त्र उतनी अराजकता जितना राज्य कोशिश करता है दबाने की उतने ही लोग दबंग होते जाते दबते नहीं 25 सालों से भारत में हम कोशिश कर रहे हैं लोगों को दबाने की वो और दबंग होते जाते जितनी तुम व्यवस्था जमाते हो पुलिस के हाथ में बम है बंदूक है क्या फर्क पड़ता है तुम रोज लोगों को मार रहे हो इससे कुछ हल नहीं होता लोगों का उपद्रव बढ़ता जाता है लोगों का उपद्रव दबाने से नहीं दबता उपद्रव को समझो उपद्रव के पीछे के कारण को समझो कारण को बदलो दबाने से कुछ भी ना होगा कारण को कोई बदलने के लिए सोचता लोग सोचते हैं बस दबाने में हर सत्ता यही सोचती कि शक्ति काफी है लोग भूखे हैं शक्ति से कोई पेट भरता है कि तलवार से कोई पेट भरता है लोग अगर भूखे हैं तो रोटी का इंतजाम करो दबाने से ना होगा और भूखे आदमी को जब तुम दबाते हो तो एक ऐसी घड़ी आ जाती जब वो देखता है कि भूख तो मिटती नहीं जीवन में कोई सार है नहीं कुछ खोने को बचता नहीं वो पागल हो जाता है फिर तुम उसे नहीं दबा सकते और व्यवस्था चलती है सिर्फ धारणा से नहीं तो क्या कीमत है पुलिस वाले की अब इस गांव में दस लाख लोग हैं दस लाख आदमियों को कंट्रोल में अगर रखना हो तो कितने पुलिस वाले चाहिए कम से कम दस लाख तो चाहिए ही लेकिन दस पुलिस वालों से काम चलता है क्योंकि मान्यता है पुलिस वालों को देख के लोग रुक जाते लेकिन अगर तुमने ज्यादा जबरदस्ती की तो पुलिस वाले की स्थिति खुल जाती तब लोग देख लेते हैं कि इस वर्दी के पीछे भी छिपा तो साधारण आदमी है मारो पत्थर ये भी भागता है उठाओ लठ ये भी छिपता है एक बार लोगों को पता चल गया कि पुलिस वाले के पीछे भी साधारण आदमी राष्ट्रपति के पीछे भी साधारण आदमी बाकी सब ऊपरी चाक चिक है भीतर कुछ खास नहीं ये भी वैसे डरा हुआ है जैसे कि हम डरे हुए ये भी वैसे घबराया हुआ जैसे हम घबराए हुए एक बार आस्था उठ गई फिर जमानी बहुत बहुत मुश्किल है वही हो जाता है जब तुम ज्यादा उपाय करने लगते हो पुलिस सब उपाय कर रही है उसके पास कुछ सुरक्षित उपाय बचा भी नहीं व्यवस्था तुम्हारे बड़े तलवारों से नहीं चलती तुम्हारा तलवार उठाना यह बताता है कि तुम घबरा गए हो पुलिस का गोली चलाना यह बताता है कि पुलिस घबरा गई और जनता ने पुलिस की हिम्मत तोड़ दी इंग्लैंड की पुलिस को सूचना है कि बिल्कुल असंभव स्थिति में ही चोट की जाए क्योंकि चोट खतरनाक है क्योंकि चोट करके तुम यह बता रहे हो कि तुम्हारा होना काफी नहीं है तुम्हारी मौजूदगी काफी नहीं इंग्लैंड भर अकेला मुल्क है जो इस पूरी सदी में सबसे ज्यादा व्यवस्थित है और कारण है कि व्यवस्था करने की बहुत चेष्टा नहीं क्योंकि चेष्टा जितनी ज्यादा की जाए उतना ही साफ होता जाता है कि चेष्टा करने वालों की भी कोई ताकत नहीं है क्या करोगे तुम भीड़ बड़ी है अराजकता फैल जाएगी लाव से कहता है कैसे मैंने जाना कहता मैंने जाना ये देख के कि जितने तेज शस्त्र होते हैं उतनी ही अराजकता बढ़ती है शस्त्रों पर भरोसा मत करो व्यवस्था एक मनोदशा है व्यवस्था कोई तलवार नहीं है और ध्यान रखो मरता क्या ना करता क्योंकि अगर तुम मारने पे उतारू हो गए तो जो मर रहा है वो भी मारने पे उतारू हो जाता और एक बार जनता मारने पर उतारू हो जाए फिर कोई उपाय नहीं फिर तुम कुछ भी नहीं कर सकते बड़े से बड़े सम्राट धूल में गिरते देखे जाते हेल सिलासी अभी अभी गिरा धूल में वो शक्तिशाली आदमी था चालीस साल तक सख्ती से उसने हुकूमत की और ऐसे गिर गया जैसे कि घास का पुतला हो क्या हो गया सख्ती ही यहां ले आई जनता उस सीमा पे आ गई जहां अब कुछ खोने का डर न रहा उल्टा दिया हेल सिलासी को उल्टाना बड़ी अनूठी घटना है कोई सोच भी नहीं सकता था क्योंकि वो कहता था किंग ऑफ किंग्स अपने को तो राजाओं का राजा है और था भी वो शक्तिशाली आदमी और चालीस साल तलवार के बल पर उसने हुकूमत की लेकिन ऐसे गिर गया जैसे खेत में खड़ा हुआ धोखे का आदमी गिर जाता है आवाज भी ना हुई जिस दिन उसको उतारा राज सिंहासन से उस दिन सिर्फ दो आदमी अंदर गए और उन्होंने उससे कहा कि आप बाहर चल के कार में बैठ जाएं स्थिति को बांप के क्योंकि जनता पूरे विरोध में है और पूरा सैनिक धीरे धीरे जनता के साथ हो गया क्योंकि आखिर सैनिक जनता का हिस्सा है कब तक तुम सैनिक से जनता को पिटवाओगे अगर जनता को तुम सैनिक से पिटवाओगे तो आज नहीं कल सैनिक भी समझ जाएगा कि मैं अपने को ही पीट रहा हूं ये मेरे मां है मेरे पिता है मेरे भाई है मेरे बेटे ये कितनी देर चल सकता है तुम सैनिक और जनता के बीच कितनी देर फासला रख सकते हो क्योंकि सैनिक आता तो जनता से वर्दी उतारी कि वो भी जनता का हिस्सा हो जाता है ये वर्दी का धोखा कितनी देर सैनिक भी विरोध में हो गया सिर्फ दो सैनिक भीतर गए और हेल सलासी से कहा कि आप उठें बिना कुछ नानुच किए बाहर खड़ी गाड़ी में बैठ जाएं हेल सलासी ने चारों तरफ देखा और चुपचाप उठ के बाहर आया सिर्फ उसने एक बात कही क्योंकि वो इतनी छोटी गाड़ी में कभी नहीं बैठा था एक फीएट वो बैठता था बड़ी गाड़ियों में लंबी से लंबी गाड़ियों में उसने कहा इस छोटी गाड़ी में उस सैनिक ने कहा चुपचाप बैठ जाए हेज सिलासी चुपचाप सड़क के भीतर बैठ गया गाड़ी चली गई उसे ले जाकर उन्होंने गांव के एक छोटे से मकान में रख दिया जिससे कि कोई खेत में खड़ा हुआ पुतला गिर जाए व्यवस्था एक भाव दशा है तलवारों से नहीं चलती और जब कोई राज्य तलवार का भरोसा करने लगता है समझो कि उसके गिरने के दिन आ गए कि आखिरी वक्त आ गया ये मौत की घड़ी जैसे मौत के क्षण में एक भबक आती है जीवन की और लपट बुझने के पहले जोर से भबकती है ऐसे ही जिस दिन बड़ी तलवार राज्य के हाथ में उठी देखो समझो कि मौत करीब आ गई यह आखिरी भबक है अब आखिरी उपाय किया जा रहा है लाओस से कहता है जितने तकनीकी कौशल होते हैं उतने ही लोग ज्यादा चालाक हो जाते हैं लाओस से यंत्रों के विरोध में था और उसकी बात सच है क्योंकि यंत्र एक तरह की चालाकी प्रकृति के साथ एक तरह की कनिंगनेस तुम प्रकृति से वो निकाल लेने की कोशिश कर रहे हो जो प्रकृति देने को तैयार न थी यंत्र का मतलब यही है तो जितने तकनीकी कौशल बढ़ते जाते हैं उतने लोग चालाक होते जाते हैं जब तुम प्रकृति के साथ चालाक हो तो क्या वजह है कि मनुष्य के साथ चालाकी ना की जाए कोई कारण नहीं चालाकी चालाकी है तुम जब चीजों को धोखा दे रहे हो अमेरिका में हर चीज को धोखा दिया जा रहा है फलों में इंजेक्शन लगाए जाते हैं ताकि फल खूब बड़ा हो जाता अब फल को इंजेक्शन देकर तुम वृक्ष के प्राण सोख रहे हो मुर्गियां भैंसें सब इंजेक्शन देके उनसे ज्यादा दूध लिया जा रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता बेहूदे ढंग से या सुसभ्य ढंग से कलकत्ते में एक पाप चलता है कि गाय या भैंस की योनि में एक डंडा डाल देते हैं दूध लगाते वक्त उससे उसे इतनी बेचैनी होती है लेकिन उस बेचैनी के कारण वो ज्यादा दूध दे देती है घबराहट में उसे पीड़ा होती लेकिन ज्यादा दूध दे देती अब ये बहुत अभद्र ढंग हुआ एक इंजेक्शन लगा दिया उस इंजेक्शन के कारण हार्मोन्स के कारण ज्यादा दूध निकल आता लेकिन अब तुम गाय को धोखा दे रहे हो जो गायें मांसाहार के लिए काटी जाती हैं उनको तो वो बिल्कुल इंजेक्शन दे के कोमा में रखते उनको बाहर भी नहीं लाते रोशनी में भी नहीं लाते उनको तो बिल्कुल वातानुकूलित ग्रहों में इंजेक्शन दे के रखते वो कोमा में पड़ी रहती बेहोश लेकिन उनका मांस बढ़ता जाता है इंजेक्शन दे दे के इतना मांस बाहर नहीं बढ़ सकता क्योंकि वो चलेंगी फिरेंगी तो मांस पचता है तो उतना नुकसान होता है धंधे वाले को तो उनको चलने फिरने नहीं दिया जाता उनका जीवन बिल्कुल पौधों की तरह कर दिया है पड़ी है गाय उसको इंजेक्शन दिए जा रहे हैं उसका मांस बढ़ते जाता है वो मांस का लोथरा है सिर्फ वो बेहोश है बस उसको काट देंगे वो जी इसका भी उसको कभी पता नहीं चलेगा उसने कभी सांस भी जीवन के लिए इसका उसे कोई पता नहीं चलेगा अब ये सब चालाकी है लाओस से कहता है कि जितना तकनीकी कौशल बढ़ता है उतनी ही चालाकी बढ़ती जाती एक घटना घटी एक आदमी ने किसी को गोली मारी अमेरिका के एक नगर में जिस आदमी ने गोली मारी वो तो भाग गया और ये आदमी मर गया और से उसका हृदय निकाल लिया गया क्योंकि आदमी मर ही रहा था तो उसका हृदय निकाल लिया ताजा और वो हृदय दूसरे आदमी को लगा दिया गया कोई हजार मील दूर तत्ण एरोप्लेन से ले जाकर वो किसी मरते हुए मरीज को हृदय के लगा दिया गया फिर एक बड़ी कानूनी दिक्कत आई वो आदमी पकड़ लिया गया जिसने गोली मारी थी उसके वकील ने अदालत में कहा कि जब तक हृदय बंद ना हो जाए तब तक किसी को मरा हुआ नहीं माना जा सकता और उसका आदमी का हृदय अब भी चल रहा है दूसरे आदमी के भीतर इसलिए पहले तो यह प्रमाणित करना जरूरी है कि वह आदमी मर गया अब ऐसी कोई घटना पहले कानून के इतिहास में घटी नहीं थी ये बड़ी मुसीबत हो गई अदालत को कि करना क्या क्योंकि जब तक हृदय बंद ना हो जाए तब तक आदमी मरा नहीं है तो वकील का कहना यह था कि आप उसको दंड दे सकते हैं हमला करने का लेकिन हत्या का नहीं हमला करने का दंड तो साधारण है हत्या का दंड भयंकर है संयोग की बात थी इसलिए नपटारा हो गया लेकिन अब कानून भी बड़ी चिंता में पड़े क्योंकि ये तो रोज मामला बढ़ेगा संयोग की बात थी कि जिसको हृदय का आरोपण किया था वो मर गए इसलिए कानून का मामला सुलझ गया कि ठीक है अब हृदय भी बंद हो गया वो आदमी मर गया पूरा इसको अब हम फांसी की सजा दे सकते हैं अपराधी को लेकिन अगर वो न मरता जैसे जैसे तकनीकी कौशल बढ़ता है वैसे वैसे लोग सब तरफ से चालाक भी होते जाते विज्ञान चालाकी है कनमने से वो प्रकृति के छिपे हुए रहस्यों को जबरदस्ती उघाड़ना है प्रकृति देना भी नहीं चाहती तो भी ले लेना है वो बलात्कार है और उस बलात्कार की जितनी ज्यादा व्यवस्था हो जाती उतना आदमी फिर सब तरफ से चालाक हो जाता है फिर आदमी से भी क्या फर्क है आदमी को भी धोखा देने में क्या अड़चन है निकालना ही ज्यादा है तो आदमी से भी ज्यादा निकाला जा सकता है जितने ही अधिक कानून होते हैं उतने ही अधिक चोर और लुटेरे होते हैं कानून से चोर लुटेरे मिटते नहीं कानून से ही बनते हैं अगर तुम चाहते हो कि दुनिया में कम चोर लुटेरे हो तो कम से कम न्यूनतम कानून चाहिए जितने कम कानून होंगे उतने कम चोर लुटेरे होंगे क्योंकि कानून परिभाषा देता कौन चोर है कौन लुटेरा है कानून पर निर्भर करता है चोर लुटेरा जैसे मैंने अभी तस्करों की बात की अगर दुनिया में कोई कानून ना हो कि एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान को ले जाने में कोई बाधा नहीं कोई पहरेदार नहीं खड़ा है तस्कर विदा हो जाएगा तस्कर की कोई जरूरत न रही अगर दुनिया में संपत्ति समान रूप से विभाजित हो या संपत्ति ना हो चोर विदा हो जाएंगे चोर की कोई जरूरत न रही लेकिन बड़ी कठिनाई है चोर विदा नहीं किए जा सकते क्योंकि अगर चोर विदा हो जाए तो न्यायाधीश कहां रहेगा वो उसका दूसरा पहलू अगर तस्कर विदा हो जाए तो तस्कर को पकड़ने वाले लोग कहां जाएंगे अगर चोर लुटेरे चले जाएं तो वकीलों का क्या होगा न्यायाधीशों का क्या होगा मजिस्ट्रेटों का क्या होगा कानूनविद इनको तुम पद्म विभूषण की उपाधियां देते हो इनका क्या होगा ये सब एक ही धंधे के साझेदार हैं चोर और न्यायाधीश एक ही धंधे के हिस्से हैं उनका संबंध वैसे ही जैसा ग्राहक का और दुकानदार का उनमें से एक गया कि दूसरा नहीं बचेगा पुलिस का क्या होगा अगर लोग चोर ना हो सच तो यह है कि अगर लोग बुरे ना हो तो नेता का क्या होगा राष्ट्रपति को किस लिए सिर पर बैठा के रखोगे प्रधानमंत्रियों की क्या जरूरत है क्योंकि लोग बुरे उनको सुधारने की उनको जरूरत है तुम्हें लगता है ऊपर से वो सुधारने में लगे हैं वो सुधार नहीं सकते क्योंकि ये उनका आत्मघात है वो खुद मरेंगे अगर लोग सुधर गए कोई राजनीतिक नहीं चाहता कि लोग सुधर जाएं। कहता कितना ही हो चाह नहीं सकता क्योंकि चाहने का तो मतलब होगा मैं मरा मैं गया कानून चोरों को बना रहा है और फिर तुम और कानून बनाते हो क्योंकि चोरों को रोकना है तब और चोर बनते हैं तब तुम और कानून बनाते हो कानून बढ़ते जाते हैं चोर बढ़ते जाते हैं अदालत बड़ी होती जाती है कारागृह बड़े होते जाते हैं चोर लुटेरे बढ़ते चले जाते एक बड़ा जाल है फिर वकील चाहिए फिर विशेषज्ञ चाहिए अगर तुम गौर से देखो तो सारी बात कहां से पैदा हो रही क्योंकि तुमने कानून बनाया इसका यह मतलब नहीं कि कानून बिल्कुल ना हो तो चोर बिल्कुल ना होंगे न्यून रह जाएंगे अति न्यून रह जाएंगे और अगर कानून बिल्कुल ही खो जाए और जिस वजह से हम कानून बनाते हैं वो वजह मिटा दी जाए जो कि मिट सकती जिसमें कोई अड़चन नहीं अभी कोई पानी नहीं चुराता क्योंकि पानी खुला है कोई भी ले सकता है और अभी पानी के चोर नहीं है न पानी के चोरों के वकील हैं न अदालतें हैं क्योंकि पानी सुलभ है सभी को उपलब्ध है और सबकी जरूरत है लेकिन मरुस्थल में पानी चोरी होने लगता है और मरुस्थल में कानून बनाना पड़ता है कि कोई पानी ना चुरा ले तुम्हारी जिंदगी में जरूर बहुत से मरुस्थल हैं जिनके कारण चोरी बेईमानी है उनको मिटाओ मरुस्थलों को कानूनों से वो नहीं मिटते कानूनों से चोर बढ़ते हैं मरुस्थल बढ़ते करीब करीब सारी दुनिया चोर होने की हालत में आ गई इस वक्त ऐसा आदमी खोजना मुश्किल है जो किसी न किसी तरह की चोरी ना कर रहा हो टैक्स बचा रहा होगा टिकट न दे रहा होगा ट्रेन में कोई और तरकीब लगा रहा होगा और मैं कहता हूं कि इसमें लोग जिम्मेवार नहीं है लोगों को जीना है तुमने जीना ही असंभव कर दिया है तुमने सब तरफ से उपद्रव बांध दिया है उपद्रव इतना ज्यादा हो गया कि उससे बिना तोड़े कोई जी नहीं सकता और जब कोई तोड़ता है तो वो चोर हो जाता है और जब तुम एक चोरी कर लेते हो तो तुम दूसरे के लिए तैयार हो जाते हो फिर धीरे धीरे चोरी सुलभ हो जाती है वो जीवन का ढंग हो जाता फिर तुम्हें ख्याल भी नहीं रहता कि कुछ गलत कर रहे हैं कोई गलत का सवाल ही नहीं है तुम अगर इनकम टैक्स बचा रहे हो तो कोई गलत का सवाल नहीं है तुम भूल ही गए हो कि उसमें कुछ गलत है चोरी बढ़ती है जितने कानून की जकड़ बढ़ती है लाज से कहता है इसलिए संत कहते हैं मैं कुछ नहीं करता हूं और लोग आप ही सुधर जाते एक और ढंग है शासक का ढंग है उससे संसार भ्रष्ट हुआ एक संत का ढंग है जिसका उपयोग भी कभी नहीं हुआ कभी छोटे छोटे कबीलों में उपयोग हुआ है बुद्ध के पास कुछ साधु इकट्ठे हो गए उनके जीवन में एक उपयोग हुआ लाओसे के पास कुछ लोग इकट्ठे हो गए छोटे छोटे समुदायों में प्रयोग हुआ है लेकिन जहां भी प्रयोग हुआ है अनूठा है संत कुछ कहता नहीं मैं कुछ नहीं करता लोग आप ही सुधर जाते संत के होने में संत के होने मात्र में मौजूदगी में कोई बात है जो लोगों को बदलती है मैं मौन पसंद करता हूं लोग अपने आप पुण्यवान हो जाते हैं मैं कोई व्यवसाय नहीं करता और लोग आप ही समृद्ध होते हैं मेरी कोई कामना नहीं है लोग आप ही सरल और ईमानदार हैं संत के होने का ढंग संक्रामक है वो तुम्हें नियम नहीं देता न तुम्हें कोई अनुशासन देता है वो तुम्हें सिर्फ अपनी मौजूदगी देता है उसकी मौजूदगी से तुम्हारे जीवन में नियम आने शुरू होते उन नियम के निर्धाता तुम होते हो एक अनुशासन पैदा होता है जो भीतरी है जो तुम्हारा बनाया हुआ है जो किसी और के निषेध पर खड़ा नहीं है वो तुम्हें कोई आज्ञा नहीं देता वो तुम्हें कोई आदेश नहीं देता उसकी मौजूदगी तुम्हारे भीतर एक आज्ञा बन जाती उसकी मौजूदगी तुम्हारे भीतर एक आग बन जाती उसकी मौजूदगी तुम्हें एक नई दिशा में इंगित देने लगती और तुम चल पड़ते हो वो तुम्हें चलाता नहीं उसकी कोई कामना नहीं है और तुम रूपांतरित हो जाते हो संसार तब तक भ्रष्ट रहेगा जब तक शासक संसार का केंद्र है जब संत संसार का केंद्र होंगे और संत शासक नहीं है क्योंकि वो अनुशासन देते ही नहीं संत का होना ही उसके होने का स्वाद ऐसा है कि तुम्हें उसका स्वाद एक बार लग जाए कि फिर तुम वही न रह सकोगे जो तुम थे उसकी सुगंध ऐसी कि तुम्हारे नासापुट एक बार पहचान ले तो सभी सुगंध दुर्गंध हो जाएंगी उसके होने का ढंग उसकी ऊर्जा उसका वायुमंडल ऐसा है कि तुम पहली बार उसकी मौजूदगी में स्वस्थ शांत और आनंदित अनुभव करोगे उसकी मौजूदगी समाधि बन जाएगी और जब स्वाद लग जाता है तब फिर तुम्हें कोई नहीं रोक सकता तब तुम जीवन के अंतिम शिखर तक पहुंचे बिना न रोकोगे स्वाद खींचेगा स्वाद एक चुंबक हो जाएगा तो दो ढंग हैं दुनिया को चलाने के एक शासक का ढंग है अतीत पूरा कह रहा है कि वो हार गया ढंग असफल हुआ उससे दुनिया ठीक न हुई बिगड़ी बुरी हुई एक संत का ढंग है दुनिया को चलाने के दो ढंग हैं एक राजनीति का एक धर्म का राजनीति का ढंग असफल हो गया है लेकिन चलता क्यों जाता है चलता इसलिए जाता है कि तुम सदा सोचते हो एक राजनीतिक असफल हो गया तो दूसरा सफल होगा इंदिरा असफल हुई तो जयप्रकाश सफल हो सकते इस तरकीब से राजनीतिज्ञ जीते जब इंदिरा की हवा आती तो लोग कहते हैं बस अब बड़ी आशा आ गई अब इंदिरा कुछ करके दिखाएगी लोग पूछते नहीं कि राजनीतिकों ने कभी कुछ करके दिखाया कभी पूरे मनुष्य जाति के इतिहास में उनसे कुछ हुआ है वे सिर्फ आश्वासन देते हैं कभी पूरा नहीं करते लेकिन तरकीब कहां है तरकीब यह है कि जब एक राजनीतिक हारता है दूसरा खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि यह हार गया यह गलत सिद्ध हुआ इसकी नीति गलत थी इसकी व्यवस्था गलत थी हम नई व्यवस्था देते हम नई नीति देते इससे सब ठीक हो जाएगा तुम्हारी आशा फिर जग जाती तुम इसके पीछे हो लेते हो तुम जैसा पागल आदमी खोजना मुश्किल है तुम कितनों के पीछे हो लिए इसकी बात तुम्हें भरोसे की लगती है क्योंकि इसके हाथ में सत्ता नहीं है ये सेवक मालूम पड़ता है फिर तुम इसे सत्ता पे बिठा दोगे चार पांच साल लगेंगे तुम्हें फिर आशा को खोने में फिर तुम निराश होगे तब तक कोई दूसरा राजनीतिक खड़ा हो जाए राजनीतिक एक दूसरे के विरोधी हैं ये तुम समझते हो तुम्हें ये पता नहीं कि नीचे दोनों मिले षड्यंत्र सम्मिलित है एक हारता है तो दूसरा खड़ा हो जाता है राजनीति को वो नहीं हारने देते और जिस दिन राजनीतिक नहीं राजनीति हारेगी उस दिन भाग्योदय होगा जिस दिन तुम ये सारा उपद्रव देख पाओगे कि ये सब हार जाते हैं और ये एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं में जरा भी कोई फर्क नहीं है हाँ एक सत्ता में एक सत्ता के बाहर सत्ता में जो हार गया तो सत्ता का बाहर वाला खड़ा हो जाता है कि मुझसे आएगा अब पूर्ण क्रांति मुझसे होने वाली पूर्ण क्रांति कभी हुई नहीं क्रांति ही कभी नहीं हुई सिर्फ वो बदल जाते हैं एक राजनीतिक दूसरे को बदल देता है तुम्हारी आशा थोड़ी देर के लिए फिर लग जाती तुम्हारी आशा वैसी ही जिससे लोग मरघट ले जाते हैं किसी को अर्थी को तो एक कंधा थक जाता है तो अर्थी को दूसरे कंधे पर रख लेते हैं थोड़ी देर राहत मिलती फिर दूसरा थक जाता है तब तक पहला आराम कर लेता है फिर अर्थी बदल लेते हैं राजनीतिक तुम्हारे एक दूसरे को राहत दे रहे हैं राजनीति असफल हो जाए तो तुम्हारे जीवन में पहली दफा धर्म का बोध आएगा तब तुम समझोगे कि सफलता सिर्फ एक मार्ग से मिल सकती है और वो है ऐसे लोगों का प्रादुर्भाव जो बिना कुछ किए करने की कला जानते हैं आज इतना है